नयनवन्तन् रघुबरहि बिलोकी पाय फल होहि विसोकी परसि चरण रज अचर सुखारे भय परम पद के अधिकारि सोबनुशैल शुभाय शुभावन मंगलमय अति पावन पावन महिमा कहिय कवन विधितासु सुख सागर जह के निवासु आँखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं जो सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए वन वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है पलम पय पयोधितजि तजे अवध बिहार जह राम रहे आए कही न सखे सुषमा जस कारण जो सत सहस हो सहसानन सो मैं बरनी कहो विधि के डाबर कमठ कि मंदर ले से वही लखनु करम मन बाणे जाइन सीलु सनेहु बखाने क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे उस वन की जैसी परम शोभा है उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो वे भी नहीं कर सकते उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता छिनु छनु लखि सिया पद जानिया पर ने करत न सपन लखनु चित बंधु मात पितु गेहू क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों माता पिता और घर की याद नहीं करते राम संग रहते सुखारी पुर परिजन गृह सुरति विसारे छिनु छिनु पय विधु बदनु निहारे प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी नाहने तढत बलोकी हर जिमिको की श्रिय चरण अनुरागा अवध सहस सम बिनु प्रिय बनु प्रिय लागा श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती है क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में छकवी सीता जी का मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है पर प्रिय प्रियतम संगा प्रिय परिवार कुरंग विहंगा सासु ससुर सम मुनि बर असनु अमीय सम वन्द मूल नाथ साथ साथ सुहाये मयन शयन सम सम सुखदायि लोकपोहि बिलोकत जासु तहि किमोहि सक विषय बिलासु प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं मुनियों की स्त्रियां सास के समान श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं सुमिरत जन तिन समय विराश राम प्रया जग जनन सिय कछुन जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है